सुन्दरगुणदृश्यमानगरी तुल्यं निजा पद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथमर्थ्यो मृतो भवति एतावद्ध्यनुशासनम् शतञ्च एका च हृदयस्य नाट्यः तासाम् मूर्धानम् अतिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट तम स्वाद शरीरा प्रबृहेन मुंजा दिवेशी काम धैर्येण तम विद्या क्षुक्रम अमृतम तम विद्या क्षुक्रम अमृता आपने ये सुना अत्र ब्रह्म संस्मृत यही ब्रह्मोपलब्धि ब्रह्म साक्षात्कार इसी जीवन में अभी अभी हो जाता है चाहे अत्र ब्रह्म समस्ते अथम अर्थो मृतो भवती अभी तुम ब्रह्म हो यही ब्रह्म हो ये तुम्हारे मैं पद का अर्थ ही ब्रह्म है तो एक ने कहा कि हम तो जब खूब खूब उपासना करके ब्रह्मलोक में जाएंगे तब वहाँ मुक्ति लेंगे यहाँ मुक्ति नहीं लेंगे एक ने कहा नहीं नहीं जब हम खूब योगाभ्यास करके समाधि लगाएंगे और चित्त शांत एक काम होगा तब हम मुक्ति लेंगे अभी हमको मुक्ति नहीं मिलती तीसरे ने कहा कि अभी हमने धर्म क्रिया तो की नहीं चित्त तो शुद्ध हुआ नहीं हम मुक्त कैसे आपको तीन बात बता एक एक न्याय है आपने सुना होगा बहुत बार सुना होगा अक्के चेन मधुबिंदे तो किमर्थम पर्वतम ब्रजे यदि अपने घर में ही शहद मिल जाए घर के कोने में तो उसके लिए पहाड़ पर हम चढ़ के जाएंगे और वहां से शहद तोड़ेंगे ऐसी तकलीफ क्यों उठाना असल में तुम्हारे अंदर पहाड़ देखने की बातना है शहद तो जो वहाँ मिलती है वही यहाँ भी मिलती है या घर वाली शहद बचाए रखने की जरूरत है की इच्छा है तो कोई न कोई वासना है अपने घर में रुपया रखा हुआ है वो तो खर्च नहीं करते हैं और दूसरे के घर से उधार लेने जाते हैं तो कुछ न कुछ लोभ मन में है जरूर तो प्रश्न ये हुआ कि तुम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जानने में क्यों हिचकिचाते हो क्या दुविधा है तुम्हारे मन में यदि प्रमाण में शंका है तो उपनिषद का विचार करो यदि प्रमेय में शंका है तो अपने आप में विचार करो यदि मुक्ति की स्वतः सिद्धि और ज्ञान की साधनता में विचार है तो सत्संग करो संशय है तो सत्संग करो तो बोले कि नहीं हमारा विचार ये है कि पहले हम संसार को बिल्कुल शुद्ध पवित्र बना लेंगे तब अपने को ब्रह्म जानेंगे ऐसा हमारा विचार है इसके लिए शास्त्र में एक न्याय बड़ा प्रसिद्ध है विकाक्ष नवनीत न्याय बोलते हैं उसको एक आदमी को ब्रिक भेड़िया कुछ बोलते होंगे इधर वरु बोलते हैं हाँ तो मारना था एक आदमी को भेड़िया ब्रिक मारना था उसके पास बंदूक भी थी गोली भी थी निशाना भी साधना आता था मारना तो था भेड़िया उसने कहा ऐसे नहीं मारेंगे पहले मक्खन ले आओ तो जाके भेड़िए के सिर पर धीरे धीरे धीरे पोतेंगे उसको लगावेंगे फिर वो मक्खन बहता हुआ उसकी आंख में जाएगा और जब उसकी आंख अंधी हो जाएगी उसको कुछ नहीं दिखेगा उसके बाद गोली मारेंगे भेड़िया को तो बोले भाई जब भेड़िया को मारना ही है तो तुम उसके पास जाने का खतरा क्यों उठाते हो उसके सिर पर हाथ रखने का खतरा क्यों उठाते हो हैं? उस पर मक्खन पोत लगाने का मक्खन मसकने हाँ? हम मक्खन हम मक्खन मसकने की हाँ, मक्का लगाने की कोशिश क्यों करते हो है? हाँ? अंधा हो जाए तब मारेंगे ये कोशिश क्यों करते हो जब उसको मारना ही है तो तुम्हारे गोली के अंदर है निशाना लगाना तुमको आता है बंदूक गोली तुम्हारे हाथ में है यही क्यों नहीं मार देते तो बोले ये भाई ये भ्रांत पुरुष का है ना संसारासक्त पुरुष का लक्षण ही ये है कि वो पहले संसार को कहता है पहले खूब धर्म करेंगे फिर शुद्ध बनावेंगे फिर जाके ब्रह्मलोक देखेंगे है ना और जब ये दुनिया नहीं दिखने लगेगी तब आत्मज्ञान के द्वारा इसका बाध कर देंगे तब गोली मारेंगे जब दुनिया का दिखना बंद हो जाएगा लो बोला जब मारना ही है तो ये विकाक्ष नवनीत न्याय की क्या जरूरत है इसमें पहले धर्म कमाओ फिर उपासना करो फिर योगाभ्यास करो फिर परलोक में जाओ फिर समाधि लगाओ फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो ये सब झगड़ा क्यों पालना है ना अरे ये भेड़िया कहीं तब तक तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे और तुम्हारी और आसक्ति हो जाए तो तो बोले भाई बोले तो एक बात है मन में क्या एक हमारा प्यारा देवता है बड़ा प्यारा इष्ट देव है पहले उसको खुश कर लें उसके बाद अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जान लेंगे तो पहले तो दूसरे को खुश करना ही बड़ा मुश्किल का दूसरे यदि कदाचित तो देवता बहुत श्रेष्ठ हो श्रेष्ठ स्वभाव का हो जल्दी खुश होने वाला हो आशुतोष हो नारायण तब उसको खुश करेंगे तो अब ये बताओ तुम कि पहले किस देवता को खुश करोगे एक कहता है कि विष्णु सबसे बड़े हैं दूसरा कहता है कि शिव सबसे बड़े हैं तीसरा कहता है कि दिभुज कृष्ण तो सर्वोपरि हैं और तीस चौथा कहता है कि उससे भी ऊपर दिभुज धनुर्धारी रामचंद्र हैं बोले शक्ति तो सबकी माँ है, हैं? अब लोग किस देवता को खुश करोगे ये संसार रूपी वृक्ष की हजार शाखाएं हजार शाखा किसको किसको खुश करोगे इसके लिए सर्व वृक्ष प्रकम्पन न्याय है सर्व वृक्ष प्रकम्पन सर्व वृक्ष प्रकम्पन न्याय क्या है एक आदमी चढ़ा पेड़ पर तो नीचे के लोगों ने कहा एक आदमी ने कहा कि देखो वो दाहिने वाली जो डाल है ना उस पर अच्छे अच्छे फल लगे हैं उसको हिला दो दूसरे ने कहा नहीं नहीं उसको नहीं हिलाना वो जो बाएं वाली है उसको हिलाना तीसरे ने कहा सामने वाली हिलाओ चौथे ने कहा पिछले अब नीचे वाले लड़ने लगे तो सबसे पहले कौन सी दाल हिलावे और किसका फल खाएं तो एक समझदार आदमी नीचे था उसने कहा अरे तुम समूचे पेड़ को ही हिला दो ऊपर से है ना जो भी दाल में पका हुआ फल होगा किसी भी दाल में गिर जाएगा सारे वृक्ष को हिला दो तो किसी ने कहा इंद्र वाली दाल हिलाओ वो भी संसार की एक दाल है कर्म प्रधान किसी ने कहा तमक प्रधान रुद्र वाली दाल हिलाओ किसी ने कहा सत्व प्रधान विष्णु वाली दाल हिलाओ किसी ने कहा रजत प्रधान ब्रह्मा वाली दाल हिलाओ ब्रह्मलोक में जाओ वैकुंठ में जाओ तो एक उपनिषद जानने वाला महापुरुष था उसने कहा सर्व वृक्ष प्रकम्पन न्याय सारे को हिला दो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए एक की प्राप्ति से सबकी प्राप्ति हो जाए है ना इसको सर्व वृक्ष प्रकम्पन न्याय बोलते हैं है तो सब में पर ब्रह्म परमात्मा को देखना आपको ये सुनाया कि यदि आप ऐसा सोचते हो कि हम अभी यहीं है ना और इसी दृष्टा मैं के रूप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन अद्वय पर ब्रह्म नहीं अगर ऐसा तुम सोचते हो तभी तुम सोचते हो कि हम धर्म करेंगे तब ज्ञान होगा है ना आ, हम स्वर्ग में जाएंगे ब्रह्मलोक में जाएंगे तब ज्ञान होगा समाधि लगेगी तब ज्ञान होगा ऐसा ऐसा साधन करेंगे तब ज्ञान होगा तुम अपनी परिच्छिता को छोड़ नहीं रहे हो ये जो तुम्हारा विपर्य है ये जो तुम्हारा विपर्य है अज्ञान है वही तुमको कष्ट दे रहा है नहीं तो न कुछ करने की जरूरत है न किसी के वरदान की जरूरत है न कहीं जाने की जरूरत है है न कुछ समाधि अमाधि लगाने की जरूरत है ये जो आत्मदेव है ये परिच्छिता का दृष्टा है हाँ, इसलिए कर्म का भी दृष्टा है इसलिए भोग का भी दृष्टा है इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि का भी दृष्टा है इसलिए लोक परलोक सबका दृष्टा है और ये जो दृष्टा है ये देश का दृष्टा है काल का दृष्टा है वस्तु का दृष्टा है इसलिए देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है वो तो इसकी दृष्टि में है माने इसके विवर्त हैं दृष्टि में है माने विवर्त हैं तो ऐसी अवस्था में यदि तुम्हें कहीं जाना किसी की इंतजार किसी के लिए बेकरारी कुछ बनाना कुछ बिगाड़ना का ये यदि तुमको इष्ट है तो तुम अपने परिच्छिन्न पने को अपने परिच्छिन्न पने को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हो तो हे नारायण अत्र ब्रह्म समस्कृत श्रुति ने तो ये कहा कि तुम अभी ब्रह्म हो ये जो तुम्हारी ग्रंथियां हैं है ना ग्रंथियों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है अनपैदा ग्रंथियों के साथ और अनहुआ संबंध मान करके तुम अपने को बद्ध मान रहे हो जाने आने वाला मान रहे हो असल में काम ही मनुष्य को क्रियाशील करता है एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों होता है, है? चुपचाप दुबक के बैठना दुबक के बैठना क्यों होता है जब किसी से डर जाते हैं ना तो बाहर शेर है और तो किवाड़ी बंद करके दुबक के बैठते हैं ये समाधि लगाना क्या है कि दुबक के बैठना है हो है ना हाँ जब चोर डाकू का डर लगता है तो थाने में जाके बैठते हैं तो यही परलोक की यात्रा है है ना हाँ, यही यही परलोक की यात्रा है तो ये अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म न जानने के कारण ही सब कुछ है बोले अपने में असुंदर पने का भ्रम होए हैं तो क्या करेंगे आंख में कालिज का डंडा लगावेंगे है ना और होठ पर खून की लाली ले आएंगे रंगेंगे खून रंगेंगे बोले चाम में कहीं कहीं भाई दाग है बोले इसको ऐसी पालिश कर दो कि पता न लगे तो जब अपने को कर्म से बनाना चाहते हैं अपने को कर्म से बनाना चाहते हैं ये हीनता की भ्रांति है ना अपने को जोग से सुरक्षित करना चाहते हैं ये सिंह व्याघ्र आदि का भय है का अपने को पुलिस के थाने में ले जाके राजा की शरण लेना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ चोर डाकू सिपाही पुलिस का कुछ न कुछ भय लगा हुआ है कहीं दुबकने की जरूरत नहीं है किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है यही ज्यो के त्यों जैसे हैं वैसे ही है ना देह के साथ एक देह में तुम परिच्छिन्न नहीं हो एक अंतकरण में परिच्छिन्न नहीं हो एक कर्म और भोग के साथ तुम्हारा कोई बंधन नहीं है कामना तुमको घटित के ले नहीं जा सकती तुम तो साक्षात ब्रह्म हो अत्र ब्रह्म समश्नुते अथ मृत्यो मृतो भवती एतद्यनु श्रुति ने स्पष्टम स्पष्टम ये बात कह दी तो शंकराचार्य भगवान अब आगे कहते हैं कि अच्छा इतना श्रुति के द्वारा समझाने पर भी यदि तुम्हारी ग्रंथि का भेद नहीं हुआ तो क्या गति होगी तो शतंचो एकाचो हृदय से नाड्या मूर्धानम अभिनिस्तृतैका तयोर्धुमायन्नमृतत्वमेति विश्व अन्या उत्क्रमणे भवंती अशेष विश्व में अधिष्ठान रूप से स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्थित है और वो तुम हो जब ये बात तुमको ग्रहण नहीं होती है तो फिर दूसरी बात तुमको सुनावेंगे पर जिसने जान लिया है और अविद्या की ग्रंथि जिसको जिसकी क्षीण हो गई है जो जीते जी ब्रह्मभूत हो गया है वो ऐसे ज्ञानी पुरुष की गति नहीं है माने न कहीं आना है न कहीं जाना है कहीं न आना न जाना मस्त है अत्र ब्रह्म समस्नुते ये बात कह दी गई यही उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती उसके प्राण जो हैं वो निकल करके प्राण माने सूक्ष्म शरीर हो उसका सूक्ष्म शरीर उसका जीव निकल करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता ब्रह्म सन ब्रह्म अरे वो तो पहले से ही ब्रह्म था अज्ञान के कारण अपने को अब्रह्म मानता था ज्ञान अज्ञान दोनों भिड़ गए ज्ञान ने अज्ञान को निवृत्त कर दिया वो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है अब ये पुनर्बंध ब्रह्म विदो अपर ब्रह्म वेदता है अपने को सगुण जानते हैं कर्म और भोग वाला परिच्छेद वाला देखो अपने को देश वाला मानते हैं कि मैं देश की गोद में हूँ तब अपना जाना आना मानते हैं और अपने को काल की गोद में मानते हैं तो निवृत्ति की जरूरत होती है कि हमको समाधि लग जाए समाधि की जरूरत कब मालूम पड़ती है जब अपने को काल की गोद में मानते हैं काल का अधिष्ठान काल का साक्षी काल का प्रकाशक है और मिथ्या काल मिथ्या काल का स्मरण अपने अंदर हो रहा है जब ये नहीं मानते हैं तब समाधि की जरूरत पड़ती है और अपने को देश में चलने आने जाने वाला मानते हैं कर्तव्य परलोक में जाने की जरूरत पड़ती है और अपने साथ किसी पदार्थ का लेप मानते हैं तब धर्म कर्म की जरूरत पड़ती है तो अपने को जो कर्मी है ना जो कर्मी कालिक दैसिक और परिच्छिन्न द्रव्य रूप जो मानने वाला है ऐसा जो अपने को सगुण जानने वाला है इन्हीं को कहीं ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है तो कहीं गोलोक में जाना पड़, जाना पड़ता है तो कहीं वैकुंठ में जाना पड़ता है ऐसे लोगों को जो पर ब्रह्म परमात्मा से विमुख है उसी को माने अपने स्वरूप को जो नहीं जानता है उसी को जाना आना पड़ता है और जो अपर ब्रह्म से भी विमुख है उनको तो उनको तो संसार में जाना पड़ता है तो अब उनके गति विशेष का वर्णन करते हैं कि ये प्रश्न क्यों उठा बोले पहले ये बात कह दी गई कि अमृत अमृत हो जाता है जाना आना नहीं पड़ता है यही ब्रह्म है अब ये कहने के बाद गति बताने की जरूरत क्या पड़ी बोले प्रश्न ये स्वाभाविक उठा कि जिनको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा उनकी क्या गति होगी तो बोले उनकी दो ही गति होगी या तो ऊर्ध्व गति होगी या तो संसार गति होगी तो ऊर्ध्व गति किनकी होती है और संसारी गति किनकी होती है इसके लिए इसके लिए ये प्रसंग अब बताते हैं इससे क्या होगा इससे जिस गति में आना जाना नहीं है उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी कि वो श्रेष्ठ है और दूसरी बात यह है कि नचिकेता ने उपनिषद के प्रारंभ में अग्नि विद्या का भी प्रश्न किया था तो अग्नि विद्या में क्या गति होती है और ब्रह्म विद्या में क्या गति आत्म विद्या में क्या गति होती है तो आत्म विद्या का तो उपसंहार कर दिया एकावत अनुशासनम और अग्नि विद्या का उपसंहार करने के लिए ये दूसरा मंत्र प्रारंभ होता है तो शतंचो एकाचो हृदय से नाड्य मूर्धानम अभिनिश्रिका तयोर्धमायन विश्व अन्या उत्क्रमणे भवंती अरे भाई हृदय में एक सौ एक नाड़िया हैं एक मुख्य है और सौ गौण है ये संस्कृत भाषा में जो गिनती के शब्द आते हैं वो स्वार्थ के भी वाचक होते हैं और असंख्य के भी वाचक होते हैं तो एक नाड़ी मुख्य है और सैकड़ों उसके साथ और सैकड़ों हैं ऐसा बताते हैं कि एक एक नाड़ी में बहत्तर बहत्तर और तीस शाखाएं होती हैं तो सौ हैं फिर बहत्तर बहत्तर हैं फिर उनकी भी शाखा प्रशाखा है गिनती में तात्पर्य नहीं है उनमें से एक नाड़ी ऐसी है विलक्षण सुषुमना जिसका छिद्र जो है वो संसार धर्म से असंस्पृष्ट है हाँ। जहाँ सांसारिक वेदनाएं जहाँ सांसारिक वेदनाएं नहीं पहुँचती देखो मनुष्य का जीवन तो रहता है परंतु सांसारिक संवेदन से रहित भी उसकी अवस्था होती है समाधि से भी होती है समाधि से भी होती है सांसारिक संवेदना से रहे कुछ न मालूम पड़े और मूर्छा में भी सांसारिक संवेदना से रहित अवस्था होती है और अभ्यासी पुरुष तो जागृत अवस्था में ही नाड़ियों को निष्क्रिय बना सकते हैं यदि उनका ठीक अभ्यास हो तो सुषुम्ना का अर्थ है सुच्छिद्रवती उनमें से एक नाड़ी ऐसी है जो हृदय से सीधे सिर की ओर माने ब्रह्मलोक की ओर चलती है ये नाड़ी शब्द जो है ये बहुत विलक्षण है वो हाँ। तो नाड़ी माने प्रणाली प्रणाली जैसे बोलते हैं ना प्रणाली नाड़ी माने प्रणाली ऐसे समझो कि घर में से घर बनाते हैं ना तो घर में से पानी बहने के लिए नाली बनाते हैं कि नहीं तो घर में से पानी बहने के लिए नाली होती है और परिवार में नारी होती है नारी न हो तो घर है ना परिवार ही नहीं हो गृहिणी गृह मुख्य है और जिस घर में से बहने के लिए नाली न हो वो घर नहीं और जिस परिवार में नारी न हो वो परिवार नहीं और जिस शरीर में नाड़ी न हो नाड़ी ना तो ये नाली नारी और नाडी ये ड ल में अभेद और ल र में अभेद हाँ। इसी के साथ जब प्र जोड़ते हैं तब प्रणाली ना का हाँ, ना का आना हो गया वो व्याकरण के नियम से ऐसा होता है प्रणाली माने पद्धति पद्धति माने ध्यान करने की पद्धति आप एक मानो वटवृक्ष हो और वृक्ष में से जैसे बरो चारों ओर फैली हुई लटकी हुई होती हैं वैसे ही आपके ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय शरीर में से छोटे छोटे संवेदन सूत्र निकल करके इस शरीर में चार ओर फैले हुए हैं एक सिरा बोलते हैं और एक धमनी बोलते हैं वो एक का नाम सिरा होता है एक का नाम धमनी होता है वायु चलने की नाड़ी रक्त बहने की रक्त बहने की नाड़ी मल निकालने की नाड़ी है ना देखो मल तो निकलता है शरीर में से मूत्र मल और पसीना ये निकाल फेंकती हैं ये सब हाँ, हाँ लेकिन रक्त को ऐसे नहीं निकालते हैं अगर रक्त निकालने लग जाए तो क्या होगा तो श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग की व्याख्या ऐसी बढ़िया आई है वो कहते हैं कि तीन प्रकार के लोग होते हैं उदरम उपासते हृदय उपासते हाँ, उदरम उपासते ऋषि वर्तमसु पूर्व दृश परिसर पद्धति हृदय आरुणयो दहरम तत उदगादनंत तवधाम शिव परम यदि समेत नपतंति पुनः कृतांत मुखे मतलब एक तो और कोई उपासना नहीं करते हैं वो उधर की ही उपासना करते हैं कमाओ और खाओ उधर हम उपास हैं बोले मतलब बस दूसरे का धन दूसरे का हमारा धन हमारा हमारा धन किसी के हाथ में न जाए दूसरे का धन हमारे हाथ में आ जाए ये कौन सी उपासना है बोले उदर उपासना है इसका नाम उदर उपासना है हाँ, एक जगह ये हुआ भाई कि छह महीने तक फलाहार का प्रबंध रहेगा दूध का प्रबंध रहेगा जिसकी इच्छा हो वो आवे और भगवान का नामोच्चारण करे ऐसा प्रबंध किया गया अब महाराज क्या हुआ कि वहाँ नाम के प्रेमी और ईश्वर के प्रेमी तो कम आए हाँ, सुविधो भाषक बहुत आ गए उनका नाम हम लोगों ने सुविधो भाषक ही रखा का तो अरे बढ़िया बढ़िया तो फल मिलेगा छह महीने तक खाने को रोज बिल मिलेगा पीने को दूध और काम कोई करना नहीं पड़ेगा माला झोली हाथ में लेके चाहे कुछ करो चाहे मत करो तो हम लोगों ने कहा इनका नाम है ना इनका नाम कौन सा ईश्वरोपासक होना चाहिए बोले ना इनका नाम तो सुविधोपासक है है ना <clears throat> या नल मिल गया बिजली मिल गई दूध मिल गया फल मिल गया सोने की चारपाई मिल गई तो सुविधोपासना और संसारी लोग क्या करते हैं बोले उदरोपासना ये घर घर क्यों फिरते हैं बोले पेट के लिए हमारे और तुम्हारे बीच में किस चीज का फर्क है बोले पेट का केवल पेट का ही फर्क है अपने पेट में डालने के लिए दूसरे के पेट का काट लें पेट का ही फर्क है अपने पेट में डालने के लिए दूसरे के पेट का काट लें यही तो संसार यही तो संसार चल रहा है अच्छा अब इस बात को जाने दो बड़ी बड़ी कठिन ग्रंथि है ये ये ग्रंथि बड़ी कठिन है एक बार एक जगह एक उत्सव हो रहा था तो गांव के सैकड़ों आदमी आ गए वहाँ अब वो आए थे बेचारे महात्मा के साथ लेकिन उन गांव के लोगों ने न तो वैसे मकान देखे थे न वैसी बिजली देखी थी न वैसी रौनक देखी थी है? अब आके कीर्तन तो करें घंटे लेकिन बस खाना चाहिए लड्डू चाहिए पूरी चाहिए मालपुआ चाहिए दूध चाहिए मलाई चाहिए अब प्रबंध करने वाले सेठ के जो आदमी थे वो एक बार घबराए घबरा के गए सेठ के पास और तो सेठ ने हनुमान प्रसाद जी से सलाह की कि क्या करना चाहिए तो हनुमान प्रसाद जी ने कहा कि अरे ये और तो कुछ मांगते ही नहीं रुपया नहीं मांगते पैसा नहीं मांगते कपड़ा नहीं मांगते दक्षिणा नहीं मांगते खाली खाने को ही तो मांगते हैं ना है ढेर लगवा दो वहाँ मिठाई का मालपुए का पूरी का है ना ढेर लगवा दो दूध मलाई रखवा दो और इनको छुट्टी कर दो कि जिसकी जितनी मौज हो उतना खाए बाबा तीन दिन का तो मामला है है ना तीन दिन इनको खाने के लिए छुट्टी कर दो और बेचारे को कहा मिलेगा तो ये उधर की उपासना जो है वो बड़ी मुश्किल तो कई लोग उधर में ईश्वर की उपासना करते हैं उसकी भी पद्धति है ये ये बड़े बड़े मार्ग हैं वो गुदास्थान के पास भी ईश्वर की उपासना होती है और मूत्रेन्द्रीय स्थान के साथ भी ईश्वर की उपासना होती है मूलाधार और स्वाधिष्ठान मणिपूरक नाभि के साथ भी और त्रिकोण अग्निमय कुंड में परमात्मा की आराधना होती है और हम उपासक है हृदय में होती है कंठ में होती है आज्ञा चक्र में होती है सहस्त्रार में होती है बोले इनमें से ईश्वर कहाँ है बड़ा मतभेद है इसके लिए तो धंधे चलते हैं इसके लिए धंधे चलते हैं हाँ। बड़ा बाप वाले कहते हैं कि मूलाधार में ही है अग्नि वाले कहते हैं कि नाभि में ही है जल वाले कहते हैं कि स्वादिष्ठान में ही है है ना प्राण वाले कहते हैं कि हृदय में ही है ये बड़ी बड़ी विलक्षण लीला है भी लोग कहते हैं नहीं सहस्त्रार से भी ऊपर शून्य शिखर में है इसी को मैंने पहले वो जो सर्व वृक्ष प्रकम्पन न्याय कहा था ना ना अरे सारा ही पेड़ हिला दो भाई सब जगह <laughs> इसके लिए इसके लिए लड़ने की धंधा चलाने की जरूरत नहीं है तो मणिपूरक चक्र में जो लोग ध्यान करते हैं उधर की उपासना करते हैं हृदय में अनाथ अनाथ चक्र है अनाहत चक्र है वहाँ वर्णात्मक शब्द नहीं है वहाँ ध्वन्यात्मक ही है ध्वन्यात्मक शब्द है वर्णात्मक नहीं है विशुद्ध देश है कंठ आज्ञा देश है इसके बाद त्रिकुटी है है ना त्रिकुटी है पंकनाल है भ्रमर कुपा है शून्य शिखर है तासाम मूर्धानम का ये कुल कुंडलिनी शक्ति जो है मूल आधार से जब उसको जगाते हैं तो मूल श्रृंगाकार शिव सुषुमना पथे न जीव शिवम परम शिव पदे योजया अपनी ही चेतना को अपनी जैवीय चेतना को मूलाधार से उठा करके स्वादिष्ठान में लाए खा जाती है चक्रों को नाभि में आती है कुल कुंडलनी हृदय में आती है कंठ में आती है आज्ञा चक्र में आती है जा करके सहस्त्रार में गुरु के चरणों में लीन हो जाती है ये भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धति है तो इनमें से जो ऊर्ध्व गति है ये जैसा पिंड में है वैसे ही ब्रह्मांड में है फिर वैसे ही विशुद्ध देश में है इसके तीन भेद होते हैं पिंड देश में ब्रह्मांड देश में और विशुद्ध देश में तो हम तो आप लोगों को ज्यादा करके यहाँ वेदांत की बात सुनाते हैं ना तो आप लोगों की व्यक्तित्व की जो चेतना है वो घट गई है ये जिनकी व्यक्तित्व की चेतना बड़ी प्रबल है जागृत है उनको स्थूल से सूक्ष्म में ले जाने के लिए बाहर से अंतर में ले जाने के लिए कार्य से कारण की पहचान कराने के लिए हाँ, विक्षेप से समाधि में ले जाने के लिए है? और वासना से दिव्यता में ले जाने के लिए तासाम मूर्धानम का तो उपासना हृदय आरुणयो दाहरम हृदय कमल हृदय कमल एक कमल है वो नीचे को ऐसे लटका हुआ है उसका मुंह नीचे को और बंद अब भावना के प्रकरण से अभ्यास से गुरु के द्वारा दी हुई युक्ति से है ना वो कमल का जो फूल है वो निम्न मुख से ऊर्धमुख होता है और बंद से खिलता है हैं? और उस पर परमात्मा की जो ज्योति है ना हंस ज्योति के हंस ज्योति के दर्शन होते हैं उस पर लार मारो मारो है बता रहा उसके बाद एक सुषुमना नाड़ी चलती है ये ईदा पिंजला ग्रंथी लगाती है सुषुमना में गांठ लगाती हैं वो एक ओर से इला इला आती है और तो एक ओर से पिंगला आती है, हैं और ये दोनों आकर के सुषुमना को क्रॉस करती हुई ऊपर बढ़ती हैं फिर घूमती हैं फिर है ना फिर गांठ लगाती हैं फिर बढ़ती हैं आगे इला पिंगला सुषुमना ये तीन नारे हैं और योगी लोग इस सुषुमना में भी और नाड़ी मानते हैं उनकी माया दूसरी है आज वो बदल गया प्रसंग है ना उनकी माया दूसरी है उसमें सुषुम्ना में भी एक चित्रणी नाड़ी होती है एक संखिनी नाड़ी होती है तया ऊर्धम आयन बाहर मत निकलो उसके भीतर से भीतर भीतर से भीतर भीतर से भीतर घुसो और घुस करके ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों का जो बंधन है पास है इतने सूक्ष्म हो जाओ कि ये जैसे सांप की केचुल छूट जाती है वैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर छूट जाए और तुम कारण से एक होकर के उस कारण वो कारण जिसका विवर्त है वो कारण जो है ना वो जिसमें बिना हुए भाग रहा है उस अधिष्ठान को स्वयं प्रकाश अपने स्वरूप को पहचान लो आपको हमको तो ये बात बड़ी मुश्किल से मालूम हुई थी इसलिए आप लोगों को हम सस्ते में बताना तो नहीं चाहते थे <laughs> ये जो ब्रह्म लोक वैकुंठ लोक गोलोक साकेत लोक हैं ये देश के कहीं ऊपरी भाग में होते हैं ऐसा नहीं है ये बात तो हमारी समझ में बड़ी मुश्किल से आई थी हमको महात्माओं की बड़ी सेवा करनी पड़ी थी है? और बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी बड़ा तप करना पड़ा था ये इसी शरीर के भीतर क्योंकि ब्रह्मलोक जो है वो कोई स्थूल पंचभूतों का बना हुआ नहीं है आप देखते हैं स्थूल पंचभूतों में आकाश जो है वो सब जगह रहता है यदि किसी चीज को हम ये बतावे कि वो आकाश रूप है तो आप ये अगर सोचो कि वो नीलिमा पर है नीलिमा के उस पार है तो ये जैसी बात गलत होगी कि नहीं यदि बात आकाश में बताई जाए तो आकाश तो जैसे नीलिमा के ऊपर है वैसे ही आपकी नाक में है आपके कान में है आपके मुंह में है आपके पेट में है आपके समूचे शरीर में है आपका समूचा शरीर ही आकाश में है तो आपका शरीर कहाँ है आकाश में है ये बात निकल जाती है ना अब यदि हम पंचभूत की सूक्ष्म मात्रा को लें तो यदि हम ये बात कहें कि ये वस्तु सूक्ष्म तन्मात्रा रूप है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं क्योंकि जब स्थूल आकाश ही आपके शरीर में है तो सूक्ष्म तन्मात्रा क्या आपके शरीर में नहीं है और यही अप्सरा है यही नंदन वन है और यही स्वर्ग का राज्य है यही कहूँ बसत पुरंदर इस शरीर में कहीं इंद्र रहता है बोला और देह इसमिन पर्वता सर्वे नदा नदी सागरा इस शरीर में पहाड़ हैं नदियां हैं समुद्र है क्या इसमें स्वर्ग है ब्रह्मलोक है इसमें बड़े बड़े देश हैं अच्छा सोचो यदि हम किसी वस्तु को पंच तन्मात्रा से भी सूक्ष्म अहंकार में बताने तो आप उसको ढूंढने के लिए ये क्यों कल्पना करते हो कि ब्रह्मलोक हमसे बहुत दूर है, है? यदि हम उसको महत तत्व में हिरण गर्भ रूप से बताते हैं तो क्या आपके शरीर में महत तत्व नहीं है, है? मत तत्व तो नहीं है आपके शरीर में क्या बुद्धि नहीं है बुद्धि नहीं है और वो जो व्यस्ती बुद्धि है वो क्या समझती बुद्धि से पृथक है यदि हम किसी बात को प्राकृत बताते हैं तो क्या प्रकृति है ना प्रकृति ने उसको एक कोने में फेंक दिया है तुम्हारे भीतर उसको नहीं रहने दिया है प्रकृति तुम्हारे भीतर नहीं है तो यदि हम किसी भी बात को आपके मन में बताते हैं बुद्धि में बताते हैं अहंकार में बताते हैं महत्व में बताते हैं हृदय तो ब्रह्म कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये ब्रह्मलोक गोलोक साकेत लोक वैकुंठ लोक ये सब जो लोक हैं ये व्यापी लोक हैं व्यापी और वो जहाँ तुम हो वही हैं क्योंकि तुम अपने को स्थूलता में फंसाए हुए हो इसलिए सूक्ष्म स्तर में जो ये बैठे हुए हैं उनका पता उनका पता नहीं चलता स्थूल स्थूल दृष्टि हट हट जाए और यही सूक्ष्मता में हो एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज हम तो नरक स्वर्ग पुनर्जन्म हम ये सब कुछ नहीं मानते तो भाई बड़ा जल्दी ना तुमने कर दिया तुमने तो बहुत जल्दी ना कर दिया अभी तो रूस के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं परसों रेडियो पर खबर आई थी हो कि रूस में धुआं धार घनघोर अनुसंधान हो रहा है पुनर्जन्म के विषय पर है और यहाँ से राजस्थान के जो महाशय बनर्जी है बनर्जी महाशय जो हैं इस विभाग के बड़ा बड़ा मनोविज्ञान विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको वहाँ बुलाया गया है और ये 500 व्यक्तियों का प्रमाण लेकर के वहाँ जा रहे हैं जिनको अपने पूर्व जन्म की पूर्व जन्म की स्मृति किसी न किसी रूप में विद्यमान है तो वैज्ञानिक लोग तो अभी संशय में हैं अनुसंधान कर रहे हैं और तुमने झटपट बिना समझे ना बोल दिया है ना तो ब्रह्म को जान करके ना बोला कि एक एक एक अनुमान ही बोल दिया तो अभी तुमने वासना का जो सूक्ष्म रूप है उसको तुम समझते नहीं हो कि वासना का सूक्ष्म रूप कैसे है अभी तो वासना ही समझ में नहीं आई तो ब्रह्म कहाँ से समझ में आवेगा है ना पहले वासना तो समझ में आवे देखो एक बार तो बोले भाई वास जन्म को समझना दूसरी चीज है जन्म विद्या दूसरी चीज है परलोक विद्या दूसरी चीज है है ना और आत्म विद्या दूसरी चीज है हो है ना और ईश्वर विद्या दूसरी चीज है ब्रह्म विद्या दूसरी चीज है एक अद्वय ब्रह्म विज्ञान की जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वो छोटी मोटी चीजों में छोटी मोटी चीजों में क्यों फंसेगा तो दृष्टि जो है वो अपनी तो असल में यदि तुम चाहो आंख बंद करो और तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए अपने हृदय में इसी समय ब्रह्मलोक मिल जाए इसी समय गोलोक साकेत लोक इसी समय मिल जाए कैलाश इसी समय मिल जाए स्वर्ग इसी समय मिल जाए क्योंकि ये सब स्वर्ग जो है वो सूक्ष्म तन्मात्रा में है हाँ ब्रह्मलोक जो है वो महत्व में हिरण गर्भ एक ब्रह्मलोक ब्रह्मांड में अलग अलग होता है और एक ब्रह्मलोक जो है गर्भ गर्भलोक समूची समष्टि में सर्वत्र होता है और वही ब्रह्मा भाव भेद से विष्णु और रुद्र के रूप में दिखाई पड़ता है वही वही कृष्ण वही राम के रूप में दिखाई पड़ता है वही आ, वही दिव्य वही दिव्य वस्तु तो नारायण तो यदि मनुष्य अंतर्मुख हो गए यदि तुमको अभी ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद गण अद्वितीय ब्रह्म ही हूँ मेरा न कहीं आना है न जाना है मन मैं संसारी नहीं हूँ न मुझ में भोग है न सुख है न दुख है ये नहीं मालूम पड़ता न मुझ में पाप है न पुण्य है ये नहीं मालूम पड़ता न मुझ में राग है न द्वेष है ये नहीं मालूम पड़ता तो मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं अगर ये नहीं मालूम पड़ता तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए ये बाहर से भीतर बहिर्देश से अंतर्देश ये विक्षेप काल से समाधि काल और ये स्थूल द्रव्य से सूक्ष्म द्रव्य कार्य द्रव्य से कारण द्रव्य में ले जाने की पद्धति है और तया ऊर्धम आयन और इस क्रम से जब ऊपर चलोगे धीरे धीरे तब क्या होगा कामृतत्व में क्रम मुक्ति हो जाएगी तो यहाँ यदि तुम स्वर्ग तक ही पहुँचोगे तब तो अमृतत्व आपेक्षित है और यदि ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओगे ऋण गर्भ लोक तक पहुंच जाओगे तो वहाँ जाके क्रम मुक्ति हो जाएगी ये दो इसकी दो इसकी पद्धति है और विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती यदि बहिर्देश से अंतरदेश में न गए यदि विक्षेप काल से समाधि काल को नहीं पकड़ा है और यदि यदि नारायण स्थूल द्रव्य से सूक्ष्म द्रव्य में गति नहीं हुई तो ये बासनाएं जो हैं वो जैसे तुमको उठा के बाजार में ले जाती हैं शरीर को तुम्हारे है ना वासनाएं पहले सूक्ष्म शरीर को ले जाती हैं फिर स्थूल शरीर को ले जाती हैं जैसे वासनाएं तुमको बाजार में ले जाती हैं वैसे ही ये स्थूल शरीर छूट जाने पर भी वासनाएं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवंती है ना वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को पशु जोड़ी में ले जाएंगी पक्षी जोड़ी में ले जाएंगी नरक में ले जाएंगी स्वर्ग में ले जाएंगी वो प्राण और वासना की जो ग्रंथि है अहम और वासना की जो ग्रंथि है अहम वासनावान इत्याकारक जो तुम्हारी स्वीकृति है है ना नौकर अगर तुमको हाथ पकड़ के है ना कहीं ले जाता है तो तुमने नौकर से कह दिया है कि हमको ले चलो तुम्हारी स्वीकृति से तो ले जाता है ना इसमें नौकर का क्या दोष है तो वासना तुम्हारा संचालन नहीं कर सकती लेकिन जब तुमने वासना को स्वीकृति दे दी और उसको महत्व दे दिया उसको सत्व दे दिया तब वो अपने मालिक को भी वो अपने मालिक को भी रुला सकती है हंसा सकती है गड्ढे में डाल सकती है स्वर्ग में ले जा सकती है विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवंती तो एक तो आत्मज्ञान से और ब्रह्मात्मय के ज्ञान से है ना अविद्या ग्रंथि का भेदन और फिर तो सब बातना और विषय और परिच्छिता और समाधि और देश सबका भस्मी भाव बाधित होना हो उनका विद्या हो जाना ये तो आत्मज्ञान की पद्धति है और यदि वासना हो गए तो उसको बाहर से भीतर करना स्थूल से सूक्ष्म करना है ना विक्षेप से समाधि लाना वहाँ जा करके वो अपने ज्ञान की जो योग्यता है ना आत्मज्ञान की योग्यता बना देगी और ठीक है अग्नि विद्या का भी उपसंहार हो गया अब जरा पूरे उपनिषद का सार क्या है सो बताओ ये अंगुष्ठ मात्र विद्या है अंगूठे के बराबर बिल्कुल अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम् हृदये संनिविष्टः तम् स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवे शीकाम् धैर्येण तम् विद्याच्छुक्रममृताम् तम् विद्याच्छुक्रममृताम् तम् अङ्गुष्ठमात्रम् अन्तरात्मानम् पुरुषम् शुक्रम् अमृतम् ब्रह्म विद्या शुक्रम अमृतम ब्रह्म विद्या बस ये तुम पदार्थ और तत्पदार्थ का विवेक करके दोनों की एकता को जानना यही ब्रह्म विद्या का यही ब्रह्म विद्या का तात्पर्य है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो है वो मालिक की सेवा करता है हाँ जो देवता होता है वो मालिक की जगह लेने की कोशिश करता है हाँ बहुत होशियार नौकर नहीं रखना चाहिए तो, <laughs> तो ये शरीर क्या है का ये जन है जन है पैदा हुआ है एक काल में थोड़े दिन के लिए रखा गया है इसकी एक उम्र है है ना और इसका इसकी एक मांग है थोड़ी चाहिए ये नहीं कि जिसकी अनंत मांग हो ऐसे को भी नौकर नहीं रखना है ना अच्छा और नारायण इसकी थोड़ी सी शक्ति है और ये हमको कुछ तकलीफों से बचाता है और कुछ वासनाओं को पूरी करता है इसलिए ये शरीर जो है इसी का नाम जन है वो जन जायंते इसी जना शरीराणी ये शरीर है तो जनानाम हृदय ये प्रत्येक शरीर के हृदय में हृदय क्या है हृदय क्या तो जहां संस्कारों का आहरण होता है दुनिया को जान जान करके जहाँ हम संस्कार का संचय करते हैं है ना वो खजाना इस शरीर में एक खजाना है ये शरीर उसको नहीं जानता है वो शरीर को जानता है मालिक की कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो नौकर को मालूम न हो है ना नौकर को मालूम न हो मालिक की कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए यदि नौकर सब पोल पट्टी जान जाएगा तो खोल देगा तो तुम समूचे हाँ समूचे रूप से अपने को शरीर के प्रति अर्पित मत करो है ना इसके लिए भी जो रहस्य रूप हृदय है वहाँ हो तुम तो। कैसे हो बोले अंगुष्ठ मात्र आत्मा हृदय के परिमाण से उसको अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं हाँ आग जो है वो गोला हो जाती है या लंबी हो जाती है तो कैसे वो आग का परिमाण आग की नाप तौल नहीं होती लकड़ी की नाप तौल होती है गोला गोला कोई कोयला जो बड़ा हो तो बड़ी आग और कोयला छोटा हो तो छोटी आग आग छोटी की बड़ी बोले आग छोटी बड़ी नहीं होती ही कोयले ही छोटा बड़ा ही छोटा बड़ा होता है तो ये कोयले का परिणाम बताते हैं अंगूठा के बराबर है भविष्य पुराण में एक कथा है वो तो भविष्य पुराण आप जानते हो कि हमारे ऐतिहासिक पद्धति से बात नहीं बोलते हैं हम लोग मीमांसा पद्धति से बात बोलते हैं मीमांसा पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति में थोड़ा अंतर होता है तो मीमांसा पद्धति माने ये उपनिषद जो है ना ये किस काल में लिखी गई और किसने लिखी तो यदि उस काल की दृष्टि से और लेखक की दृष्टि से आप महत्व का निश्चय करना चाहते हो तो हम इस ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार नहीं करते तो तब तुम किस दृष्टि से स्वीकार करते हो तो हम इस दृष्टि से स्वीकार करते हैं कि इसमें अपरिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान का निरूपण है तो जहाँ जहाँ परिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान का निरूपण है वो विद्यांतर है वो दूसरी विद्या है हो अपरिच्छिन्न विद्या का जो आज भी निरूपण करे वो उपनिषद और परिच्छिन्न विद्या का जो आज भी निरूपण करे वो पौरुषेय मनुष्य के द्वारा निर्मित ग्रंथ हम जिस वस्तु का है ना कि भाई ये किसने बनाया है नहीं इसमें वर्णन सोने का है इसमें वर्णन हीरे का है इसमें चांदी का है इसमें रसोई बनाने का वर्णन है इसमें मकान बनाने का वर्णन है तो वस्तु के भेद से जैसे विद्या का भेद होता है, वैसे निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक निर्धर्मक अद्वितीय प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का निरूपण करने के कारण हम उपनिषद विद्या को उपनिषद विद्या बोलते हैं तो हम क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक पद्धति से विचार नहीं करते हैं हाँ। वास्तविक पद्धति से विचार करते हैं वास्तविक पद्धति से माने हमारे प्रमेय का दृष्टिकोण जो है ना वो प्रधान है ना हमारे वक्ता का दृष्टिकोण प्रधान नहीं है कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है ये देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बोल रहा है जहाँ आत्मा और ब्रह्म और जगत एक है अखंड है अखंड वस्तु की विद्या है तो एक दिन शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी मिले हाँ, ये तो कहना तो ये था भविष्य पुराण में वर्णन है भला बताओ कहाँ शंकराचार्य और कहाँ रामानुजाचार्य दोनों के समय में बड़ा भेद है ना बोले अरे दोनों व्यक्ति नहीं मिले भाई दोनों व्यक्तियों के विचार मिले <laughs> हाँ, विचार का ही व्यक्तित्व के रूप में उल्लेख है पुराणों को समझने के लिए भी हमारे पास आना पड़ता है बोला हाँ, हाँ, वो विचार का भी व्यक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं ये ये, सूत्र पुराणों के समझने का सूत्र समझ लो कि वे विचारों का उल्लेख व्यक्तित्व के रूप में करते हैं विचार भी एक व्यक्ति है दोनों मेरे तो रामानुजाचार्य ने कहा कि शंकर देखो तुम कहते हो आत्मा ब्रह्म है आत्मा ब्रह्म है, है? यहाँ तो सात उपनिषद में लिखा है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषा अंगूठे के बराबर आत्मा होता है हाँ। तो शंकराचार्य मुस्कुराए बोले कि आचार्य चरण तुम भी तो कहते हो कि अणु परिमाण आत्मा है बड़ा सूक्ष्म है अणु है अणु है तो यहाँ तो अंगूठे के बराबर लिखा है और तुम अणु कहते हो सो कहते है ना दोनों हाँ, दोनों मिले हो तो श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि वो अणु मात्र जो आत्मा है वो हृदय में रहता है और हृदय अंगूठे के बराबर होता है, है? तो हम हृदय का परिमाण जो है वो अणु मात्र के साथ जोड़ करके तब उसको अणु बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं यहाँ श्रुति की व्याख्या ये हुई कि हृदयोपाधिक जो अणु मात्र आत्मा है सो अंगुष्ठ मात्र है तो शंकराचार्य बोले कि बस यही बात है हम भी जो ब्रह्म पर आत्मा है अपरिच्छिन्न जो आत्मा है उसको हृदय की उपाधि से अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं जैसे तुम अणु को हृदय की उपाधि से अंगुष्ठ मात्र बोलते हो वैसे हम विभू को वैसे हम विभू को हृदय की उपाधि से अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं बोले अब अब ये निर्णय करना होगा कि दोनों में से कौन सा ठीक है ना हृदय की उपाधि से यहाँ अणु को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है कि हृदय की उपाधि से यहाँ विभु को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है किसको कहा गया है आओ निर्णय कर ले तो बोले श्रुति पढ़ो तम स्वाद शरीरात प्रवृहित उसको पहले शरीर से अलग करो अंगूठे के बराबर को और तम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम शुक्रम अमृतम विद्या है ना उस उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को शुक्र माने माया अविद्या कर्म भोग आदि के मल से विनिर्मुक्त और अमृत माने सचित आनंद गान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न उसको जाने तम विद्या शुक्रम अमृतम अब तुम निर्णय करो है ना अब तुम निर्णय करो कि यहाँ अणु का अंगुष्ठ मात्र वर्णन है कि यहाँ विभू का अंगुष्ठ मात्र वर्णन है क्योंकि अंत तो गत्वा तो वो शुक्रम अमृतम है शुक्रम अमृतम है तब यहाँ शुक्र अमृत का ही हृदय की उपाधि से अंगुष्ठ मात्र करके वर्णन है अब ये प्रसंग फिर कल सुनाएंगे और कल ही इस उपनिषद को पूरा कर देंगे वो बुधवार को हम्म। और गुरुवार से गीता का तेरह अध्याय है ना क्योंकि बहुत दिनों से है ना